यक्षेवं हि पश्यति तदेव ब्रह्म को ही सभी अन्य इंद्रिय कार्यकलाप में उपदेश कर रहे हैं आवृत्ति शुक्र उपदेशा शक्ति में कोई जानता नाम की चीज नहीं होती कोई आदर्श नहीं है जो अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म बात को समझाना होगा तो उस बातों के लिए वह बार बार स्मृति कर देती है यथावृत रसप्रदोषादि से न्याय के आधार पर त्रिशोधि चक्षु उपरोक्त बात को लागू करते हुए बतानी है ये चक्षुषा जो गम ऐसा है वो चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता है किंतु जिसके वजह से चक्षु भविष्य ये चक्षु भी तस्वीर को भी देती है उसका सर्व प्रकाशक सर्व सत्ता तत्व को ग्रहण करके जानो प्रवृद्धि न इदम इसे जाने जिसे तुम दया उपास्य ग्रहण करते हो उपासना करते हो वह नहीं और वह देश काल से परिच्छिन कोई वस्तु है वह भ्रम नहीं हो सकता वह उपास्य हो जाए सर्वश्रेष्ठ हो जाए फिर भी वह नहीं हो सकता है जो देश काल आदि से परिच्छिन्न है वही वास्तविक शुद्ध ही न पश्यती न विषयी करोगी चक्षु के द्वारा जिसे आप विषय नहीं बना सकते वो ब्रह्म है अंतत्वृत्ति संयुक्त यह चक्षुषी अंतत्वृत्ति देवृंदा चक्षुवृत्ति ही अश्रुति लोक क्योंकि अंतकरण वृत्ति से संयुक्त होकर उनकी चक्षु का अपनी अकेले की वृत्ति नहीं होती अंतकरण की वृत्ति ही चक्षु के आकार को धारण करके चक्षु के माध्यम से देव निर्गलित हो जाता है तो उसको चक्षुवृत्ति कर दिया जाता है वास्तव में चक्षु का आत्मा मुझे वृत्ति कुछ भी नहीं इसलिए अंत करण वृत्ति संयुक्त अंत करण वही प्रवर्तक चक्षुषा संयुक्त यहाँ पर भी समझो संयुक्त नहीं किसके साथ संयुक्त करण वृत्ति चक्षुषा संयुक्त सती ये न चक्षुषी अंतकरण वृत्ति निर्गुणा जिस आत्मा या आगे जोड़ जोड़ जो जो चैतन्य आत्म जो विषा लोकाभिमान एवं चैतन्यात्म जो दिशा चक्षुषी अंत भोगना वो चक्षुषी बहुजन का जब कर दिया इसके लिए विचार है कि दो तो चक्षु होते हैं तीन तो होते नहीं है ना तो जो बहुजन कर दिया चक्षुषी चक्षु चक्षुषी चक्षुषी कैसे हो गया तब कहते हैं कि वह को अंत प्रवृत्ति भेद से भिन्न अनंत मृत्यु कर बहुचन कर दिया प्रकार की वृत्तियां उनके भेद से विभिन्न हुई है पुण्य के लिए उनकी अनेक वृत्तियां हो गई हैं और वृत्तियों के बिना जीवात्मा है लोक पश्यती लोक ऐसा जिस चैतन्य आत्म ज्योति के प्रकाश से ये अंत प्रवृत्ति की सहायता को लेकर चक्ष अपने रूप वाले विषय को देख लेता है उस चैतन्य उसको विशेष करने के व्यापने की चिंता है आत्म ज्योति के द्वारा ही स्वचक्षु रूप आदि विषयों को व्याप्त कर लेता है आपके चेतन यदि न हो तो रूप आदि को व्याप्त कर चक्षु अनुभव नहीं कर सकेगा सब कुछ बात स्पष्ट ही है और और बात परिवर्तित ही है इसलिए क्योंकि सब अधिवेश मात्र है यह पहले मंत्र सोचा हो गया वास्तु मंत्र ने उसका किया यक्षोत्र श्रमोक्ति श्रोत्र विरुद्ध तदेव ब्रह्मत्वबुद्धि जिस ब्रह्म को श्रोत इंद्र भी स्वृत्ति के द्वारा श्रवात्मक क्रिया में व्याप्त नहीं कर सकता क्योंकि जिस ज्योति के कारण जिस आत्मचेतन ज्योति के कारण से प्रकाश के साथ साथ है यह श्रोत इंद्र भी इधम शिल्पम अपने समस्त शब्दात्मक विषय जरूरत को ग्रहण कर लेता है श्रवण कर लेता है उस चैतन्य के प्रकाश को ही हम ब्रह्म उस पर ही जागृत करेगा वैवन समझ जा रहा है जो देश का नाम से परिच्छन है ऐसे सपास तत्व को है जिसे कर रहे हो उसको ब्रह्म से जाने ये छोटे राशनादी करते लेकर है दिव्य का अविष्ट तेरा आकाश कार्य मनोवृत्ति संयुक्ति में श्रोत्र कैसा है दिग देवता अधिष्ठित दिशारू देवता से अधिष्ठित है और आकाश का कार्य है वही मनोवृत्ति जो कल वृत्ति से संयुक्त ऐसा श्रोत्र यह जीव आम आदमी उसको आत्मा को विषय नहीं कर पाएंगे किंतु यह न सुचेतनात्म जो विषय आगे लिखा है श्रोत्र निगम श्रुतम प्रसिद्धम चेतनात्मिका विषयी हम चैतन्यात्म दिशा जिस चैतन्यात्म ज्योति की वजह से ही उसके माध्यम से इसके प्रकार से यह श्रोत इंद्रिय निगम जो प्रसिद्ध है सब है समस्त शब्द सुनो एवं प्रसिद्धम श्रोत्रम हाँ, तत्सर्वम विषयी विषय करने अब क्रम चंद्रांग्रियों का और इससे आगे कोई और चीज है नहीं इसलिए जो है प्राण शब्द ध्यान इंद्र जिससे प्राय आत्मा को यह प्राण मैंने ध्यान इंद्र भी अपना गंध के समान विषय नहीं बना लेते मन से क्या है गंध तो आनंद जिस प्रकार से गंध को अपना विषय बना लेता है उस प्रकार से यह ग्रहण इंद्रिय आत्मा का विषय नहीं कर सकता इंद्र जिस आत्म ज्योति की वजह से प्रकाश के साधन से माध्यम से यह ग्रहण इंद्र भी अपना गंधन रूप क्रिया को करता है ऐसा उस आत्मज्योति ज्योति को ही तुम ग्रहण करते जानो इसे नहीं काल विपरीत उपास उपासना करते हुए मतलब ध्यान आर्थिवेन ध्यान जी क्या है पृथ्वी का आर्थिक आर्थिवेन गुराणीन नाचिका पदांत अवस्थित वो कहा रहता है नाचिका कुट के भीतर भी अवस्थित है वह भी लेकिन स्वतंत्र नहीं है अंतकरण वृत्ति ध्यान सही नहीं है अंतकरण वृत्ति के सिद्धांत चले जा रहे हैं प्राणवृत्ति भी जरूरी श्वास चलता है तभी तो तन ग्रहण करेगा श्वास के साथ श्वास न चल तो क्या ग्रहण करेगा इसमें प्राण भी जरूरी है और अंतकरण भी जरूरी है दोनों की सहायता से यह मत क्रांति जिस ग्रहण को यह ग्रहण के द्वारा विषय नहीं कर लिया जाता है गंधवत न विषय कर लेती जिस प्रकार से गंध विषय कर लेता है उस प्रकार से आपको विषय नहीं कर पाता है ये चैतन्य जो दिशा है भाष्य स्विषय प्रतिपान जिस चैतन्य ज्योति का अवभाष्य रूपेण यह उस ग्रहणी में संबद्ध होकर करके उसी प्रकाश को देखकर वह ग्रहण इंद्रिय अपना विषय ग्रम को ग्रहण करता है पालन क्रिया करता है कारण ये ग्रहणी है ग्रहणात्मक क्रिया गंध ग्रहणात्मक क्रिया को निष्पादन होता है इत्यादि सर्वम समान भारत सर्वत्र समान ही है और यहाँ पर कहते कि भाई पूरा ब्रह्म उपदेश हो गया और उसको बारम्बार समझा भी दिया गया पंच बार पांच बार आवृत्ति को कथन कर दिया सामान्य कर श्रोत किशोर पंच शिशा अच्छे सामान्य कर दिया फिर विस्तार से विशेष रूप में ग्रहण करके समाप्त कर दिया लेकिन ग्रह कारण ऐसे एक ही हो सकता है तो शिष्य थोड़ा भ्रांति में पड़ गया हाँ ग्रह मैं अच्छी तरह से ग्रह को जान लिया ऐसा ग्रहण कर ले तो ग्रंथ ग्रहण कर जो मेरा ऐसे विशिष्ट है विशिष्ट को ग्रहण समझना गलत है मैं कौन विशिष्ट मैं शिष्य अपना आप विशिष्ट रूप में समझ रहा है यदि वह अपना विशिष्ट स्वरूप को ग्रहण करके पकड़ रहा है तो भी गलत पकड़ वह विशिष्ट ईश्वर ब्रह्म नहीं कह दिया गया मेरे मेरे जो उपास दे विशिष्ट देश का रहा है परिचय भले पर शक्ति माने सर सर्वज्ञ सर्वित जो विशेषण इसको दिया जाए वह तो ईश्वर को भी यह ब्रह्म नहीं कह दिया गया अगर देश से परिचित जो कोई विशिष्ट वस्तु होगा वह ब्रह्म नहीं है तो यह जीव के स्वयं को विशिष्ट रूप में ग्रहण करता है ग्रहण करके बहुत गलत होना इसलिए परीक्षा कर रहे हैं पूरा निखर न्याय यहाँ पर लागू होता है पूरा निखर न्याय ग्रहण कर रहे हैं उल्टी बाढ़ना उल्टी से बांट दिया पहाड़ को छोड़ दो क्या यही एक बार उसने तो हिलाया देखो देखी खूटी हिल रहा है कि नहीं हिल रहा हूँ और भी घूटी मिल जाए तो फिर आपको और ठोस करनी पड़ेगी और घूटी नहीं मिला आप ही मिल जाएगा तब समझे हाँ घूटी ठीक है और मजबूत हो गया उसी प्रकार गुरु और शिष्य को जो है एवं हिरोपाधे विपरीत ब्रह्म आत्मा ब्रह्म की प्रत्यायित है हे और उपाधि से विपरीत तो तुम शुद्ध हो वो तुम शुद्ध आत्मा ही ग्रहण विशुद्ध नहीं और उपाधे तो रहित तो जो शुद्ध आत्मा है जो तुम्हारा स्वरूप है वो ब्रह्म है इस प्रकार से प्रत्याय दूर करा दिया है गुरु ने शिष्य को बोध करा लिया है किंतु शिष्य तो शिष्य का पकड़ सकता है हमेर ब्रह्म की सृष्टि हम पकड़ लेगा मैं ही ब्रह्म हूँ मैं बढ़िया रंग समझ गया हूँ जो मैं दिन वही ब्रह्म दोनों का रहा है बुनियाद अरे ये जो मैं हाथ पैर शरीर वाला यही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा पकड़ तो इतनी यदि ऐसा शिष्य ग्रहण किया है तो उचित नहीं है ना इसलिए आचार्य शिष्य बुद्धि विचारार्थम यदि इसे आचार्य शिष्य की बुद्धि को मान करके पटेल को तो देखना चाह रहे हैं कहा तो कि सेम सही हमारे बातों को यदि मन्यते सुवती गहर नीलापि नीलम यदि क्या आपका राशि है राशिकार में इसमें पूर्व पक्षी संगठन बनने इत्यादि सकते मन में कहो यही सुबह गई थी यही तुम मान रहे हो कि मैं समय प्रकार से जान लिया हूँ यही जो मैं हाथ पैर सकल इंद्रिय बुद्धि अहंकार आदि द्वारा देवत नाम जैसे प्रसिद्ध से व्यवहार कार्य में वही मैं ब्रह्म करके तुम समय प्रकार से जान रहे हो जहां मेरा निश्चित रूप से थोड़ा ही जाना तुमने भी थोड़ा ही जा रहा है अभी थोड़ा सही सही नहीं जा रहा धर्म को भ्रम जा रहा अभी तुमने अपने आप को कर जाना मेरा भेद की कहानी याद है ना अभी भवन गर्म हो रहता मेरा प्लम नहीं हो सकता ये शरीर बंद हो रही लेकिन फिर भी ठीक है पहले कुछ तो नहीं मानता था अपने आप को क्रम से बिल्कुल अलग मानता था उससे तो एक कदम आगे बढ़ गया है पहले तो शरीर आज से उसी चला गया ये मान लिया है तो अच्छी बात यही अभी थोड़ी ही पूरा सही सही अभी तक पूरा परिपक्व नहीं हुआ इसलिए धर्म मेरा अंत नहीं हुआ ये तो गोली लोग मध्यम परिमाण वाला शरीर की व्याख्या मान एकता ब्राह्मणोरूपम यदक्षिप्तम यदक्षित अधर्म निर्माण जब निश्चय ही है तो ब्रह्म के रूप को थोड़ा ही जानते हो ब्रह्म रूपम तुम रूपा तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जाना तुम जाने हो किंतु यह जो तुम आध्यात्मिक को अथवा आर्दैविक को यदस्य तम यदस्य देश यह जो तुम्हारी जो शरीर को लेकर आध्यात्मिक तत्व को एक भ्रम कर पकड़ रहे हो अथवा जो विरोध अथवा दैविक आधुनिक वस्तुओं को लेकर तुम भ्रम करके समझ रहे हो तो दोनों ही ठीक नहीं है अकारू इधर तुमको अभी विचार करना चिंतन करो वर्णन करो ये जब रहे तो शिष्य ने सोचने लगा ऐसे क्यों कर रहे गुरु तो इसने एकांत चुपचाप बैठ के खूब मनन किया तब ये दिखाते कि समझ में आया तो आकर के कहता है विदितम तो जान लिया बस जान लिया महाराज आप जो कह रहे थे वो तो हम जान कहेगा विदितम <laughs> नाशिका नमो इष्टवृत्ति व्यवहार निश्चितावृत्ति पक्की पूर्व पक्षी कहने लगता है बीच में अरे भाई वो मैं ही हूँ ऐसे यदि जान रहा है तो ठीक है तू कर रहा है हमेरा ब्रह्म यदि होगा निश्चिता प्रतिपति से तो ऐसी इसीलिए निश्चयात्मिक बुद्धि उसकी हो रही है तो इष्ट ही तो है गलत थोड़ी जान रहा है सत्य का जवाब यदि सिद्धांत कहता है ठीक कह रहे हो तो ये मना नहीं कर रहे ये जानता करके तो जान रहे नहीं जा रहे थोड़ा जान रहा है इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति सुवेद ये बात तो सही है कि निश्चिता प्रतिपत्ति होना इष्ट है किंतु सुवेद हम ऐसा प्रतिपत्ति होना निश्चित ज्ञान होना अच्छी बात है लेकिन उल्टा पलटा पकड़ कर उसका निश्चय कर लेना वो ठीक सुवेद हम ऐसा निश्चय भी कर लेता तो गलत निश्चयात्मक ज्ञान होना किसी भी विषय का निश्चयात्मक प्रतिपत्ति हो रहा है ज्ञान हो रहा है दूर हो रहा है तो अच्छी बात है लेकिन सूर्यदान करके आप ब्रह्म के मामले में वो जान रहा है तो बहुत मतलब यदि वस्तु विषय होती तत्सुष्ट में तो शब्द जो वेदी वस्तु हुआ करता है ना दस पद्मता भी लीन हुआ करते हैं इनको तो हम संयुक्त प्रकार से सुष्ठ प्रकार से जान सकते हैं इन ब्रह्म के ऐसा विशिष्ट वस्तु क्या जिसको तुम सुनेगा कहोगे कहीं वही कह रहे हैं वेद्यम यद ही वेद्यम ही आरम्भ जिसलिए जो एक वस्तु हुआ करता है उसको इंद्रियों के द्वारा जब विषय कर लेते हैं तो उस वस्तु को शुक्र नहीं सुन सकते सम्यक प्रकार से जानना संभव है जैसे दादीजा दुर्धुम अग्निर दुर्धुम तो अग्नि सर्वम होगा जैसे अग्नि से दगदेहू अग्नि है जलाने वाला अग्नि के प्रति दानी होता जो अगर वस्तु है लकड़ी आदि उसको जलाना संभव है क्यों वो अग्नि से नहीं है लकड़ी क्या है अग्नि से भी है इसलिए अग्नि जो है स्व से हुई वस्तु को जला सकता है लेकिन क्या अग्नि अपने स्वरूप को जला देगा तो नहीं जला ठीक उसी प्रकार यह जो आत्मा है जीवात्मा ये स्व से भिन्न घट को सब एक प्रकार से ही ला लेता है पर अपने स्वरूप को सुरोध करके कभी नहीं बोल सकते स्वर्ग से ही वे तो स्वात्मा ब्रह्म ही सभी वेद वेद वेदिताओं का वीरताओं का जो स्वरूप है वही ब्रह्म स्वात्मा ब्रह्म ही सरल नाम सुनिश्चित वर्त यही सकल वेदांत का सुनिश्चित और यहाँ जो प्रतिपादित है प्रसिद्ध प्रथम खंड में देव प्रतिपादित यहाँ पर इसी को प्रतिपादन किया गया क्योंकि कि देव की आत्मी अकेले की आत्मा की नहीं शुद्ध ग्रहण की कथा है क्योंकि सभी के आत्मा की उसको समझाया गया इसे यदि वो देवल समझ रहा मैं ब्रह्म तो गलत समझ रहा ये सब आसुरी वेदांत उसको क्या कहते हैं आसुरी वेदांत ये रावण में था तो पंच में था सब मैं ब्रह्म हूँ मेरे अलावा कोई ब्रह्म नहीं बाकी सब मूर्ख है ये सब मेरी पूजा करो वो तो ब्रह्मा विष्णु वैसे कुछ नहीं है वो तो ब्रह्म नहीं है मैं ब्रह्म हम ब्रह्म ये सब वेदांत विवेक ब्रह्म समझना और बाकी सबको अज्ञानी समझना ये सबसे बड़ा ज्ञान है तो ये आखिरी वेदांत इसीलिए शिष्य को विचारण करके देख रहे हैं गुरु कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वेदांति बन रहा हो कोई बात पकड़ लिया कि विशिष्ट मैं वो आत्मा है ये तो तदेव प्रतिपादितम मस्त श्रोत श्रोत्र इत्याद्या पिछले प्रश्न इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवचन की प्रणाली को अपनाते हुए उसी शुद्ध ब्रह्म जो सभी का तो सर्वस्व विजित तो है आत्मा ब्रह्म पूर्वाक्य का कहा सभी विजिताओं का विजित आत्मा वो ब्रह्म है वही यहाँ पर प्रतिपाल के प्रश्न प्रतिवचन के माध्यम से एक बार सर्वजन की अवधारण और विशेष रूप से उसी को यद वाचार पूर्व के अंतिम तक पांच प्रियावम के द्वारा स्पष्ट निश्चय कर दिया गया संप्रदाय निश्चय अन्य देवता सुषमा और ये बात केवल अपनी मर्जी से नहीं कर रहे तो ब्रह्म भी संप्रदाय के द्वारा परंपरा से निश्चित किया गया पदार्थ है यह बात में पूरे में कहा गया गया अन्य देवता अतो अनिता रीति ऐसा तुमने तो कर लिया गया और इसी को आगे संहार तो भी करने वाले हैं क्या अविज्ञात विज्ञानता विज्ञान अभिज्ञानता आज इसको संहार आएगा उसमें शिष्य दूसरे उनकी बुद्धि में मिला करते इसलिए यही है जो गुरु शिष्य के अंदर जो ऐसा बुद्धि हो सुने गई थी उस बुद्धि का निराकरण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो यह उचित ही है वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्य अग्निगुण वेदिता अपने वेदितुम स्वरूप को जानने में समर्थन नहीं हो सकता किसी को नहीं जान सकता ना मैं अमुक हूँ अगर हम स्वामी अमुक अमुक जो भी अग्रहण ब्राह्मण जिस प्रकार से भी आप विशेष रूप में ग्रहण कर रहे हो तो क्या है अज्ञान से विशिष्ट ही है वो है ये स्वरूप को आप ऐसे ग्रहण नहीं तो समझो प्रेम धर्म नहीं है संयोग प्रेम धर्म तत्व को अधिक है ऐसा कैसे ग्रहण करूंगा इसमें कहते हैं कि भाई वेद का वेद वेदतु वेद नहीं सकता ये जो सकल गर्भ प्रकार संसार का विदिता है वह अपना व्यक्तित्व स्वरूप को स्वयं घटपाड़ी के समान जान नहीं सकता जैसे अग्नि अपने स्वरूप को ही जला नहीं सकता अग्नि ही अग्नि हो जब दिन कृपा नहीं सकता युवा युवा कभी नहीं सकता अन्य मिलता ब्रह्मण अस्थि यद्यम अन्य ब्रह्म ये कोई अन्य ब्रह्म नाम का वेदिता नहीं है जिससे दिन कोई दूसरा व्यक्ति ब्रह्म को हम जान सकेंगे दो ब्रह्म नहीं है एक वेदिता ब्रह्म और एक वेद के अलग होता तो वेदिका ब्रह्म जो है उस वेद के क्रम को ग्रहण कर सकता था और कह सकता था सुवेदा हम जानी अरे मैं सुनो प्रकार से जान लिया ऐसा हम कह सकते थे ऐसा नहीं है ये करें रहे अन्य देवता ब्राह्मण अस्थि ब्रह्म का कोई अन्य देवता नाम से नहीं है यश वेद्यम अन्य द्रोह साथ जिसका जो कोई दूसरा हो गए ऐसा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमने ब्रह्मांड को परिषद में स्पष्ट कहा है नान्य दोस्ती विद्या अन्य विद्याता प्रतिशित नान्य दोस्त विद्यात्री नान्य मंत्री इत्यादि का सबसे निषेध समानता है का कोई दूसरा भिन्न नहीं हो जो कुछ भी है वो ग्रह नहीं स्वता विपरीत कल्पना है वास्तव में अन्य कोई विज्ञाता नहीं हो सकता नाम नाम अतर अतर बाहर होने से तो के तो अन्य तो दो ठीक है तो अस्थि है ना वहां अलग रुचि होनी नहीं है तो सब ठीक जिस तरह ठीक लोग कर इसलिए सृष्टि योजना करने की प्रतिपत्ति इच्छा इसलिए यदि शिष्य यू जान रहा है सुष्ट हम ब्रह्म ब्रह्म को स्पष्ट जान लिया ऐसे भी कहता है तो गलत कर रहा है ब्रह्म है नहीं जिसको जान पाएगा अहम ब्रह्म सुष्ट मिलगा मैं ब्रह्म को समय प्रकार से जान लिया ऐसे कह रहा है कि समझ गया मैं भट्ट को समय प्रकार से जान लिया कंडीशन वाला अहम गतम सुनेगा अहम ब्रह्म सुनेगा ग्रहण होगी तो ऐसी स्थिति में आप गत के साथ ब्रह्म को भी नहीं मान रहे हैं तो फिर गलत हुआ ना जहां पर स्वभूमिता से बुद्धि व्यक्ति ब्रह्म को पकड़ रहा है तो वह बिल्कुल मिथ्या निश्चय है यथार्थ निश्चय नहीं है इसमें प्रतियोगिता की जो प्रतिपत्ति है वो मिथ्या वह झूठी प्रतिपत्ति है यथार्थ प्रतिपत्ति हो नहीं सकती व्युत्पन्न आचार्य यही चाहिए इसलिए आचार्य ने कुछ ही कहा है यही चाहिए इसी द्वारा अब मैं प्राप्त हो जाए कदा कदाचित मनने से यदि कभी मानव भूल चुप से मानते हो कौन मनने से करे थे शिष्य को शिष्य तुम यदि इस बात को मानते हो कि सूर्य देव की सृष्टि में हम ब्रह्मा मैं ब्रह्म को पुष्पूर कर जान लिया और यदि कदाचित के दिमाग में आ जाता है तो वह गलत कदाचित यथाशति शील दोष सुमेधा कश्चित प्रतिबंध कच्चित शासन का माहा यदि क्यों जानना पड़ा क्योंकि कोई कोई तो ऐसा भी निदान दे सकता है एक ही बात सुनकर जो पूरा समय प्रकाश जानिए शिष्य ऐसा भी मेधावी हो सकता है ना एक बार सुन लिया और फिर जाना बोले हम ब्रह्म स्वरूप है तभी और जो थोड़ा बहुत जोर है दिमाग का अभियंतरण पूर्ण शुद्ध नहीं है इत्यादि इत्यादि दोषवान है वो क्या समझेगा उनका समझेगा इसीलिए क्योंकि पढ़ाने वाला एक है सुनने वाला पचास है उनमें से पता नहीं कौन से पकड़ रहा है कौन नहीं से पकड़ कौन पूरा पकड़ रहा पूरा भी नहीं पकड़ आधा पकड़ने वाली बहुत है तो पूरा पूरा पकड़ने वाले कितने होते हैं इसलिए यदि सबसे आचार्य आरम्भ कर रही है तो क्योंकि जो कदाचित हो हाँ होतम दुर्विज्ञ भी तो दुर्विज्ञ होने के बावजूद भी जैसा सुना वैसा ठीक ठीक क्षीण दोष सुनेगा कश्चित तो नहीं बनते तो क्षीण दोष वाला है सुविधा है क्षीण दोष दोष है नहीं उसके अंदर मेरा शुद्ध परिपूर्ण मंगल है शुक्र है वह कश्चित प्रतिपदित कोई पुरुष उसको संबंध का एक ही बार में जान लेगा कोशिश नहीं भी क्यों तो पूर्ण तो क्षीण दोष नहीं है सदोष है और नहीं अमेधा भी नहीं अति मेधा भी नहीं है किंतु अल्प मेधा वाला है गैर मेधा वाला है ऐसे के लिए वो नहीं जन्म जान पाएगा इतनी आशंका महा इसलिए आशंका को लंब रख करते ही वह गुरु ने यदि कई शब्दों से कहा दृष्टम ये बात प्रमाण है ऐसा होता है तब इंद्र विरोचन को देखो प्रजापति ने इंद्र को भी वही उपदेश दिया प्रजापति ने विराट को भी विरोचन को भी वही उपदेश दिया लेकिन विलोचन क्या बन गया स्वयं प्रयोगान समझ के चला गया और इंद्र नहीं समझ पाया कहा नहीं उसमें गड़बड़ी दिखाई फिर गया दोबारा फिर बत्तीस साल झाड़ू पोछा लगाया फिर जो है जो दोबारा गया आ गया आ गया बत्तीस बत्तीस बत्तीस कितना हुआ छियानवे और अंत में पांच साल उस तरह से एक सौ एक साल में जाकर के इसकी उम्र को बनाया कितना समय लगे इंद्र में क्या अपने अपने कोई गुण नहीं निकलना चाहते हैं तीन साल लगेगा कृपा के तीन महीने का होगा एक तो एक दिन तो तीन महीना होगा मध्य दिन कहा तीन साढ़े तीन साल लगेगा बताओ तो कुछ नहीं बनने का तीन साढ़े तीन साल तीन बन लगेगा अगर अपनी प्रतिबंध लगे कि बीमार बीमार हो गया कुछ गड़बड़ फड़बड़ हो गया तो कुछ तो तो तो और भी समझ जाएगा अच्छा है तो साढ़े तीन साल में नहीं आने वाला है है तो आए वो ऐसा आचार्य को ढूंढ रहा है जो सौ दिन में पूरा वो दाम तो है तो इसलिए यहां पर भी मेरे दृष्टान स्वयं परिषदों में है प्रजापति ने उपदेश दिया ये शिवक्षिणी पुरुषो दृश्यता एक आत्मा यह जो आंख में दिखाई देता है छाया अच्छा पुरुष है वही आत्मा है इति विवाचो अत्यंत तो गंभीरता नहीं अंदर को यह अभय कहा जा सकते पंडितोटी विरोचन स्वभाव दोष वशात अल्पज्य मानवती विपरीत शरीर आत्म के प्रतिबंध ये प्रजापति का बेटा पंडित तो था वो किंतु असुरों का राज असुरों का राजा विरोचन नाम से सुप्रसिद्ध स्वभाव का देश की वजह से ही अनुपद्यमान अपनी जो इतना आसानी से मान नहीं था नहीं था फिर भी विपरीत विपरीत अर्थ क्या शरीर और के प्रतिबंध हो शरीर ही आपका है करके ग्रहण कर लिया था तथा इंद्र इंद्र ठीक विपरीत उसी प्रकार इंद्र को भी वही उपदेश था इंद्र देवराज सकृद उत्तम पहली बार कह दिया गया दूसरी बार कह दिया गया तीसरी बार कह दिया गया फिर भी उसकी प्रतिपत्ति नहीं हुई अप्रतिपत्ति मानना स्वभाव दोष क्षय अपेक्षा स्वभाव दोष की क्षय धीरे धीरे हुई छियानवे साल में जाकर के और जब चतुर्थ पर्याय चौथी बार में जाकर के जो पहला कहा गया था वही को बुझाया गया था कोई खास बात नहीं थी प्रथम पर्याय में जो उक्त ब्रह्म था उसी को चतुर्थ पर्याय में जाकर के निर्णय तस्मात गुरु श्रृणताम कच्चित यथाव प्रतिपदे कच्चित यथाव कच्चित विपरीतम कच्चित न प्रतिपदे किम अतीन्द्रियम आत्मतत्व लोके तीर्थ स्नान गुरु लोक में भी होता है गुरुदेव बैठा है और वो कुछ पढ़ा रहा है क्या पढ़ा है भौतिक संसार की वस्तु को पढ़ा रहा है कोई भी चीज नहीं पढ़ा रहा है ये खास बात नहीं बड़ा चीज नहीं पढ़ाता है आत्मविद्या की बात नहीं वो दृष्टांत में ले रहे हैं जाकर करा ना हिंदी वक्ता है मरती के अति तो सूची रूप के रूप आ रही है मैं रहा है लेकिन कोई कोई बालक होता है जैसे नाचने का एक ही बार पूरा बैठ लिया तैयार कर लिया कोई होता है कच्चित खड़ा था कोई बिल्कुल उल्टा पलटा तो और कोई विपरीतम कोई ठीक उल्टा ही पकड़ ये को भी बोली कभी को ये बोली उल्टा ही बोली ये तो ना क्रम से टूट के बोल दिया इसकी बात ये अब जी बोल दिया फिर आई टी आर बोल दिया बात हो गया वो आया था उसको क्रम टूट फूट कर देते तो छोड़ा किसी को नहीं और ए बी सी बोला डी छोड़ दिया फिर जी बोली फिर डी बोल दिया वो हो गया आया था और उल्टा ही कर दिया सारा काम तो विपरीत हो और कर सुना प्रतीत होती है कोई तो बैंक बराबर अक्षर सारा वही हो रहा है और मुझे आपका तो कुछ समझता ही नहीं सारा कुछ भी बता हटा लिए किसी नहीं देख पाता वास्तविक पढ़ाने में फर्क हो गया ना अरे उसके अंदर देश उसके अंदर कौन नहीं कर रही है अभी उसके कार्टून बनवाया उसने पहले जमाने में क्या करते थे बत्तीस साल भगवान जो पहले अंतकम शुद्ध करते सीधे एडमिशन ले लिया साथ खाने वाली मामला नहीं था ना स्कूल <laughs> में पैसा अटक जाए पैसा ले लेते हैं डोनेशन भरो सीधे एडमिशन ले लो और आगे नहीं आए कोई मतलब नहीं उसको नहीं पढ़ाते गुरु कर आगे से ट्यूशन से भी आ गए ट्यूशन में भी पैसा दे डबल दिया ट्यूशन के लिए दिया फिर फेल कर देंगे पूरा रोजगार से आ गए जान भी फेल कर देते ऐसे भी तो इस पर जो धंधा जो हो गया है तो क्या करें इस समय जो धंधा इनका तथ्य जो है वह उस समय कहा जाता है तो उसके अंतर करने जो ऐसा पाप है

तो हमारे यहाँ परंपरा है सभी देवघर वाले को ढूंढिए उसको जगह को जो परंपरा में चाहते हैं यहाँ के लिए प्रयास लगा हुआ है यहाँ की परंपरा नहीं बिल्कुल तुमने क्या पढ़ा लिखा कर जारी और समृद्ध करा के लिए नहीं पूछते आ जाओ सब आ जाओ कोई नहीं पावा जाएगा देखा जाएगा जो होगा होगा चाहे आखिरी वेदांत होगा चाहे मतलब पूर्व हो कुछ तो होगा कुछ होगा अग्नि कदम इसीलिए निश्चितता पूर्वक हम लोगों ने जो है शब्द बना लेते हैं तीन अतीन्द्रियम आत्मसत्तम और अतीय आत्मपति के बारे में क्या कहना निश्चित से उस विषय में कोई उनका कर सकता है शत्रु ही विपरीत अन्ना सर्व का सर्व की सुनिए तथा आम आदमी जाकर करा बड़े बड़े पास करे सबसे ज्यादा ही अनसार고자 सर्वो অতঃপর অতি জাতিদের বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না বা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপরি বিরোধচার undertaken ইরাইসি আলো হয়ে গেল আসনা নীতনর নীতির সুস্থিত উৎসমতি সমল উৎපත්সা যিনি নসে পিছে শাসন করে চলেন আল্লাহু আলাইহিস সালাম इसलिए एकम ब्रह्म सुनिश्चित उत्तम यद्यपि एकम ब्रह्म ऐसा निश्चित सुनिश्चित करने के बावजूद भी विषम प्रतिपत्ति यह जो है विषम प्रतिपत्ति का मतलब क्या अत्यंत दुर्बोध स्वरूप वाला आत्मा होने के कारण से कहीं ऐसा न हो कोई विधि ग्रहण किया हो इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए यदि यदि ऐसा मानते तो यदि विपरीत ग्रहण किया है या अयथान ग्रहण किया हो या बिल्कुल नहीं ग्रहण किया हो तो यदि इसने कर दिया मन सूर्य ऐसा मानते हुए सबको और विचार कर लेना चाहिए इस प्रकार से यदि आचार्य का कहना है इसको आशंका वचन आचार्य से शब्दार्थ जाने धर्म अल्पम मेरा तो निश्चित निश्चित तुमने यदि अहम ब्रह्म वेदा अस्मी ऐसा कहते हो अहम भी अहम ब्रह्म वेदा मैं उस ब्रह्म को जान लिया मैं अलग हूँ जानने वाला वह ब्रह्म अलग चीज है ऐसे अहम वेदा वेदा अस्मी से अहम ब्रह्म वेदा अस्मी कह रहे हो और निश्चित रूप से तो थोड़ा ही जान रहे हो जानी से ब्रह्म तुम ब्रह्म के स्वरूप को थोड़ा ही जानना है किम जानी ब्राह्मणों रूपाई अर्थता अर्भतान इत्यादि पूर्व पक्षियों कहता है अरे क्या बात है दुकान भ्रमण है क्या भ्रम के मेरे रूप है सुनने से तुमने एक दो चार को पकड़ा है बाकी सबको पकड़ा नहीं ये कहना चाह रहे हैं बेहरम कह करके अल्पम कह दिया मैंने थोड़ा आपने ग्रहण किया है इस पर तो भ्रम के विरुद्ध दिखाएंगे इसलिए जो सोमवार को फिर बीस बार किया तो बीस बार किए हुए प्रश्न के जवाब वो जानता है और बाकी प्रश्न में जवाब हो नहीं जानता यह नहीं जानता ना तो अगर ब्रह्म को सौ वाला मान लो तो इसमें कितना वाला चरण है दस को तो जाना नब्बे को नहीं जाना कुछ तो बताओ क्या बात है लेकिन अनेकानी ब्रह्म रूपानी महान की अर्धदानी मेरा आधार में जिसके से तुम कहते हो तो तथा ब्रह्म के बड़े और छोटे अनेकों रूप है महारती अर्घदानी महारती में बड़े पड़े हूँ और अर्घ करवाया अर्घ करने में छोटे बड़े ऐसे बहुत सारी विद्या लीला जिसके वजह से आप कह रहे हैं इत्यादि थोड़ा ही जाना नहीं हमारा आपकी शंका बहुत अच्छी शंका है अनेका नाम रूपोपाधि प्रधान ब्रह्म रूपा न स्वतः बड़े बड़े रूप भी है छोटे छोटे रूप भी चिंती करेगा ब्रह्मा का और ब्रह्मा में भी दो हाथ वाला नहीं कारण से लेकर वो सोलह हाथ वाला नहीं है सब प्रकार के ब्रह्मा है सब प्रकार के जीवन जीवन कलम भी दो हाथ वाला जीवन की है सोलह हाथ वाली दुर्गा मैया की है सारे जीव का बड़ा पेट वाला गणेश जी है छोटा पतला पेट वाला संपात प्रभु जी है हर किसी भगवान दुगने पत्नी लगने छोड़ने लगती है बनाते पेट जैसा लगता है यानी नाम रूप को लेकर के ही ब्रह्म का अनेक रूप कहा जाएगा उसको उपाधिक होता इसलिए कहते हैं अनेकानी नाम रूप उपाधि उपाधिकृतानी ब्रह्मण रूपानी स्वत स्वतस्थो अशब्दम स्पर्श रूपम समित्यम अगम भगचेतु शब्दादि से रूपाणी प्रतिष्ठित शब्दादि के रूप रूप अनेक स्वरूपों को प्रतिषेध कर दिया गया है स्वरूपम ब्रह्मणो अपि विशेषण निरूपण तदेव तस्य रूपम आप उच्चते पक्ष जिस भ्रम को लेकर जिसके स्वरूप ग्रहण किया जाता है वही उस वस्तु को स्वरूप करके समझे इसीलिए जिस विशेष को लेकर के आप भ्रम का निरूपण कर रहे हैं वही विशेष को लेकर वह भ्रम का शुद्धि हो जाएगा अति उच्चते उसे भ्रम किया चेतनियम अभिव्यादिनाम अमृत सर्वेशा नाम स्वाध्यो भगवती चैतन्य जो है इनमें से किसी का भी भ्रम नहीं होता प्रतिव्यादि नाम अन्य सर्वेशा प्रणता नाम वा प्रतिव्यादि किसी एक का भी नहीं या प्रतियादि सभी का भी नहीं या इनके भी परिणाम कार्यों का भी नहीं प्रतिव्यादि नाम अन्य समस्या प्रतिव्यादि नाम सर्वेशा या विपरीता नाम वाक किसी का भी धर्मो चैतन्य न भवती तथा श्रोत्रादी नाम अंतकरण से धर्म भवती इसलिए श्रोत्रादियों का अंतकरण का किसी का भी धर्म भी वो नहीं हो सकता जब भूत का नहीं भौतिक का भी नहीं उनके कार्य होगा कर्म का भी नहीं ब्रह्म मेरे कर्म के ये बात जो है चाहिए ब्रह्मा रूप के चैतन्य ब्रह्म जो है चैतन्य भाव से ही हमें अनुभव में आता है विशेष रूप से सभी के अंदर विद्यमान वह सामान्य चैतन्य रूप से ही प्रबंधन कर सकते हैं तथा चैतन इसी बात में कहा भी गया विज्ञान मानव विज्ञान भूव सत्य ज्ञान मनोबंधन विज्ञान ब्रह्म जो ब्रह्म रूपम निर्दिष्ट शोधिशोध चल जाता है फिर भी समस्या है आप यदि ऐसे कर रहे हो फिर ग्रहण का निरूपण क्यों किया इस प्रकार से निर्देश क्यों किया यदि अशब्द मरूप स्पर्शन तो पर शब्द निर्देश अनेक विशेष कदम सत्य भी हो ज्ञान भी योग अनंत हो विज्ञान भी हो प्रज्ञान हो आनंद है वो इतनी बातों से निरूपण कर रहे हो फिर कहते हो कि भाई निरूपण नहीं हो सकता क्योंकि इसी बात सत्यम ठीक है आपकी शंका सर्वांगिका और कुछ स्वीकारे सत्य निर्माण तथापि तद अंतकरण रूपान दोबारे लेगा विज्ञान शब्द निर्देश ये विज्ञान शब्दों जो निर्देश किया जा रहा है तो वो भी अंतकरण रूपानियों को लेकर के तो अंतकरण देह इंद्रिय आदियों उपायों के द्वारा ही विज्ञान शब्दों से निर्देश किया जा रहा है तद अनुकारिता संकोच छेदांशु नाशी छुग लेकिन उसी का अनुकरण करते हुए ही कहा जा सकता है क्योंकि देहादि तो वृद्धि संकोचशील है छेदादि से प्राप्त होने वाला है नाश भी प्राप्त होने वाला है लेकिन ब्रह्म स्वीकार नाश वृद्धि क्षय आयु प्राप्त छेदादि को प्राप्त नहीं होता स्वत तो स्वतः कैसा है जो बात हम आगे कहने वाले हैं अविज्ञातम ज्ञानताम विज्ञातम हो जाता इसी केवल परिषद में आगे जाकर के स्थितम भविष्य ये स्थित कथा आगे कहेंगे लक्ष्य ब्रह्म रूप अब मैं लक्ष्य ब्रह्म रूपानी यही इसी मन से पूर्व न केवलम अध्यात्म पारिप्रक्षण से ब्रह्म रूपम तम अविकल्लित है केवल अध्यात्म उपाय से परिच्छिन्न करके इस भ्रम के अल्प रूप को तुम्हें जाना है तो नहीं पर यदि अधिदेवतावादी परिच्छिन्न ब्रह्मरूपम दिनेश्वर था तम सदति मेरम गहरा मेरा मन अहम आचार्य कहते मैं ये मानता है कि तो तुम्हें थोड़ा ही जाना यदि जब अध्यात्म काल से ब्रह्म को रूप को ही असली ब्रह्म करके ग्रहण कर रहे हो तो तुम थोड़ा जाना कि कौन नहीं बल्कि अभिदैवत काल से परिच्छिन्न जो ब्रह्म करो तो देवाओं में है उनको भी यही तुम ब्रह्म पर ग्रहण करते हो वह भी तुम्हें थोड़ा ही जाना है समझो केवल शरीर को लेकर के ही नाम ही बोलेगा मैं ये शरीर है मैं आत्मा नहीं मैं ब्रह्म हूँ प्राप्ति से जानता है किंतु वो जो ब्रह्मा है विष्णु है महेश्वर है वो ब्रह्म जो प्राप्त है वो भी गलत की प्राप्त है कोई ब्रह्म नहीं है क्योंकि अहम ब्रह्मी यह अध्यात्म ये देव गणतम पदवी तक देवेश उत्पादित ग्रहण पर नहीं वर्तित है क्योंकि जो अध्यात्म हो चाहे वही हो जो कुछ भी हो देवताओं में रहने वाला है चाहे जहाज में रहने वाला है उपाधि से परिचय नहीं कराते वो अल्प ही होगा वो अल्पत्व को निवृत्त नहीं कर सकता या उन्नत को प्राप्त नहीं दे नहीं सकता ये तो विभक्त सर्वोपाधि विशेषण देखो जो सर्वोपाधि विशेष यही तो, तो विध्वस्त हो गया है सर्वोपाधि विशेषण शांत ब्रह्म वेद मदेद भूमाद्य नित्यम ब्रह्म है वह कभी नहीं हो सकता वह घटपटारी के समान स्वभिन्नत क्योंकि वह जब सर्वपाल विशेष है प्रशांत है अनंत है